बात सुनी हाँ सुनी तो है भाई साहब ई स्वाग पीछे तो मने तो रंडा पूछ चोखो है क्यों भाई साहब क्यों कहीं गेली गेली बातें करे देख अब देख रसोई तो बड़ी है हाँ। और थाल तो सजा दे अच्छी बात है लियो भाई साहब अते थाल सजाया आप इतनी तकलीफ क्यों करी ही मने तो आप विष घोल और देदन हो जिको मने बातें तो कोनी सुनती सुननी पड़ती थोड़ी घनी तो ये गादी की तो लाज रखो एक तो मैं थारे लार आयो हूँ कि तू मारे लार आई है मने अकल देवे गई मारे सामी बोला गई लिखलिकाट करे गई अलपदार हाथ दो चार जपा में लागे तो उतली जाए बात अधूरा हुकम अगर बोला रे सभा ने बेगा जाने सभा ने तो बोला अपने जी रे मक्खन पानी में मिलाए और ला जल्दी वो पीऊं मैं माखन तो तातो कर दियो हुकम क्यों मारा हुकम बिना क्यों कर दियो अरे तने हुकम कुण दियो के भाई ने मक्खन ने तू तू गरम कर जाए रोज गरम हो कम जगह अरे रोज गरम करना से अगर जो माखन बना देना तो दुनिया बिलोनो क्यों करे जो को वो मते लूंदो बन जाओ भी गिरो गरम करना री कई जरूरत भी नहीं अजी तो आप इतनी तो गेला है क्यों करो हो सामो वाले की जरूरत नहीं है अबे सब जना पंचायत करे है જણો જણો આવે છે કોઈ આ પંચાયતીઓ કરી આ પંચાયતીઓ કરી આ પંચાયતીઓ કરી તો મેં સામી બોલ આપને કાઈ કે દિયો પંચાયતી મારી ગઈ ખાની કોણ ગયો વતન મેં માં તો કહી દિયો તો મને જન્મ દિયો હે કઈ તું મને જન્મ દિયો હે જો મને બાતા બતાવે તું મારે લાડ આઈએ મેં તારે લાડ નહીં આવ્યો તો મારે લાડ તને બોલનો પડી મારે લાડ આઈએ તો हजूरिया हुक्म चलो सब बेगर ने बेला करो और ये बेरन बुरा चलो भाई चलो जल्दी हाँ। आ जाओ हाँ, एक चीज जैसे हुक्म दे रहा है ना फिर देख पाओ हुक्म दे यही से आवाज दे चलो भाई कौन है फला अरे हजी इधर आ जाओ सबके सामने चलो भाई चलो शो करते हो तुम लोग हाँ मैं तो बुरा हूँ कौन बुर बाटी मैं पहली मैं पढ़ू पद ले नाक मारे उठते गारी अजूरिया हुकम बाबू साहब कहे के पहली मने बेरा में नाक और पच ऊपर रेत री तिगना फटक हाँ तो बे बोलो आप कह रहे हैं कि मैं खुद पहले कूद जाऊं तो जैसे ये है ना कि इसके पहले जो हो तो पहले मैं पूछ जाऊं तो यहाँ से उसके पहले मैं पूछ जाऊं मैं तो ये चले हम्म। अब तुम लोग सब तो ये मुंडे गोल घूमना हम्म। ऐसे करते हैं मैं कूद जी सकते गोल घूम के घूम के यहाँ मैं पकड़ तो हाँ और फिर उसके बाद तुम अपनी बात करके चलो ये जरा तुम लोग हो ये मान लीजिए लगे थोड़ा इधर थोड़ा इधर वापस खड़े जब वो जाने लगेंगे तो फिर उनके पीछे हाँ मैं बुरा हूँ बेरा ने मैं मैं कौन बुरबाज हूँ बेटा आज बुरबाज हूँ काल बुरबाज हूँ और तो बुरी जी बेरो मानो नहीं हुक्म कहाँ है जुरिया आप सही फरमाओ ओ बेरा बुरी जी तो है अल्लाह हूँ बेरा का माए पढ़ू तू कैन बुरा बंदे का मैं बेरा में मैं पढ़ू भाई तू कदला ही कहीं मारो देखा तो तने देख हुई के बराबर ने हूँ बेरा के माए मैं हूँ आगे पढ़ू तू पते पढ़ जा ना मैं देता हूँ तने ता तू बड़बाड़ा कौन है बेरा के माए ने आ पढ़ू बात अरे माजी तो ठहरो ना मैं मैंने मतलब पढ़ी बात जो राव राव तेरे जो बाबू साहब बेराम पढ़न डूगा पढ़ी अबे और मारो हाल हुकम मजा चाले नहीं ए मारी कोई बात माने नहीं यहाँ चले तो ऐसे बात कर लो बच गया कुआं है ना कुआं है ना तो मैं तो कूद के रहूंगी ऐसे बात मैं तो कूद के रहूंगी तभी यूँ यूँ देखते वहाँ नहीं से गोल गोल गोल यहाँ पे आके बैठ के बोल जो बोल बोल हाँ बुरी जी पहले बुरी जी मैं कोनी बुर बाजू हूँ आज बुर बाजू कोई काल बुर बाजू हूँ और हाँ, तो बुरी जी बाबू साहब बेरू बुरा हूँ मैं उन बुराई मेरा बुरा ना आंदा क्यों करते जल्दी बुरा वो बुरी निकाल मैं तो काम बेरा कमाए अजड़िया वो काम जल्दी बुरा कौन बुर वालों तो काम मैं बेरा कमाए पड़ू मने बेरा में बोरे पड़ियो लार छोटी तू पड़ी माने मारे केड़ो और मने बेरा कमाए ने पढ़ना ही पड़ी है बे अब काई करूं मैं बेरा कमाए ठहरो बाबू साहब ठहरो नहीं मत जाओ अजड़िया मान जाओ अजड़िया पड़ जाएगी ए बाबू साहेब बेरा में पड़े है के रेत पते नाको और पहली मने नाको ए तो पड़ता और मते मते रिकट में पंचायत आवेगी अबे मने ई गांव में रहनो ठीक नहीं है अजुरिया मैं तो ओई जा रही हूं बस फिर होते अब उठो माजी साहब ठाकुर साहब तो गया परा रूस उठो तो गया परा हाँ निशार गया परा तो रूस चलिया गया सब कहें तो रोबी की कल्याण मतो हमें जितनी बात क्यों जितनी बात तो, तो यही तो जिद करो ही क्यों बचे पूर्ण का मन बेरो जानो हमें क्यों ब्रो तो क्यों ब्रो हमें मन को सीधी पक्का ही है बाबू साहब तो कह लोगो और कोलो और तो खाई बात है शंकर जी अगला बच्चा ये भी सबसे जी शंकर जी अरे यो है यो यो है बाबूसन उठो मैं तो रूस तरफ चले गया उठो ना बन्ना कालिया गया हाँ कटे नहीं गया भाई वो तोरी इशार गया बोला नहीं कि कालिया काहे करो मैं छिन्यो क्यों वो तो रीस बाजे करे तोड़ो क्यों करे थाल छोड़ बाजे तो जिद तो था कोई पक्को अब तो थे तो जिद करो ही क्यों हो अब काहे करो भाई अब सोच मत करो रूस छोड़ा किसा मन्ने को नहीं है अब आ जाए थोड़ी सी देर में मैं पाँच आ जाए अब कहीं आज थोड़ी रूस है वो तो रोजी में रूस से ही है पहले पहले ये आएंगे सब अच्छा आप ऐसा करते हैं कि जितना किया है उतना एक बार दोहरा लेते हैं पक्का आगे बढ़ने से पहले अभी जो ભૂલી લાગે કે હવે ઘરાણા કા ટાવર है यूं कभी रुतावड़े उबारे तो कभी सात आठ दिन चार दिन पांच पांच दिन पानी में बुड़िया रहे તો કાઈ કરા તો કે સમજાવણ વાળો ઉપાય કરો ને કે સમજાવો બિના હવે કાઈ કરાવો મેં તો ઘણો સમજા સમજા કાઈ વેગી છે જા સમજાવો અચ્છા તો મેં સમજા તો હમ विद्वान लड़का दे के लेके आओ मेरी कन्या की शादी करवाना अच्छा हाँ। चलो मिल रहे चलो ए बाजा क्या का बाजा है जान आगे जान आई हाँ। ठीक जो ना ये देखो मैंने बताए लीजिए देख करने ये नाक खींचनो भूल गया तो बढ़िया हाँ, नाक को कहीं दस्तूर या करे गए दस्तूर तो हो है नाक को चुपाई हो गए ना जी हां हां वैसा फिर फिर गीत गाइयो लो हेलो हाँ, ससुर के जवाई संस्कृत के मैं तो आगे ही हम्म, जाऊन ने कसा ठीक <laughs> महाराज और एक बात पूछूं आपने हम्म। के भाई को कहीं ना मेरे भाई को कहीं ना तो महाराज का नाम जानो ही नहीं कहीं माने कहीं जाबे मेरे तबाव करन के ना अरे बूढ़ा ब्राह्मण नाम है तो बे टाबरा का लाल लंग नाम जाना ही कोनी भाई को नाम तो है गीगी हां और भाई को नाम है गीगो ओ कह रहा हूं कह रहा पीगो कह रहा हूं कह रहा किया पीगो महाराज ये कहीं पीगो भाई तो चुंदड़ी मंगल है अरे हम्म। कंवर साहब मोड़े मंगल कोनी तो आपकी जोड़ी को मिले तो मिले कहने बजे मोड़े मंगल तो मिले जोशी जी महाराज उब के मायने अब मोया हमें डावड़ो कटा सुलासिया अब देखो शाह आपकी मर्जी आप क्यों करो एक बात है हम्म। मेरा जी हो जाए तो कह देवा मेरा जी क्यों सही बात बताओ मैं हाँ मोड़े मंगल है अगर काम जमतो बैठा महाराज एक तो के ब्याह करने आया या ब्याह कराने आया नहीं मैं तो आपने किया महाराज देखो साहब मी में काई કણો वेली सी मांगे तो यानी फरमा દો जो વાત रे कोई बात ओ महाराज हां जाओ जल्दी करो मने टट्टी लागी है हां पकड़ भाई भाई को किया काई महाराज काई बात है सितर बरस का हो महाराज थोड़ा घणो बोलन को विचार रखो काई बात हुई पकड़ भाई भाई बात भाई भाई बात किया पकड़े महाराज हेलो माने ब्राह्मणन थे काई गेला किने काठा अरे माके ब्राह्मणा के आ तो भाई ओ भाई इया की हो गई हाँ। मैं जानियो आन दो ना बनाया बनाया बिराजो चल ओम मंगल देवता हाँ, ना ओम मधुपति अस्मन् ब्रह्मा ગયો તો કોની ભાઈ જાણે મે ઘર જોડા તમારે બાંધું કાઈ એક ઠીકરી બાંધો ગોળ મોળ વાહ વાહ જોડાઈ હે